रात गई अब सुबह हुआ तो ताज़ा एक गम हुआ रात गई अब सुबह हुआ तो ताज़ा एक गम हुआ अफसोस है यारो कि जिंदगी का एक दिन कम हुआ मिलन कोई सुत मिलनि कोई त जमो ह सज मोहमान अभिमान ज्यो ज्यो पाओ आगे धरे यज्ञ समान दीदियों से हाँ मैं हूँ ऐसे ही हो <laughs> प्रेम ने वाचा होत तो जगत जोगी बनी जात प्रेम ने वाचा होत तो जगत आखुई जोगी बनी जा पसी हल्की ने मारे जात ई भगवा तेरी ने भूज अरे તમે બોલો કે અરે એક અરે અરે અરે દૂર વાંચલું संत सपूत ने तुम बड़ा ऋण एक स्वभाव संस सपूत में तूं बढाण इतरण स्वभाव इारे पूर्ण बोड़े न क्या राग ताल करना कैसा भी हरि नाम है लेना मुझे क्या राग ताल करना कैसा भी हरि नाम है लेना प्रेम का भूखा है वो मेरे काना उसे नहीं रंग ढंग प्रेम का भूखा है वो मेरे काना उसे नहीं रंग ढंग होना मुझे क्या राग ताल करना कैसा भी हरि नाम है लेना हरि हरि करता हरस कर रे जीव अणबूझ हरी हरि हरि करता हरस कर अरे जीव जन बूझ केम के पारस लाघो या प्रगट तन मानव रो तू नाम मिला रूप को जब वह रूप हृदय बसे तो सुधार है नहीं कोई मरद जगावे दर्द को दर्द जगावे जीव मरद मरद जॻ दरद करद जॻ जी जॻावे सूरत کو, फिर सूरत मिलावे पी तो कहा उद्धव से श्री कृष्ण ने जरा बिंद्रा बन को जाना जाना वहाँ की गोपिया को कुछ ज्ञान का तत्व बतलाना क्योंकि वो विरह की वेदना में सदा बेचैन रहती है तड़प कर आह भरती है सदा रो रो के कहती है क्या वही मेरा श्याम है Thank you. हंसकर कहा उद्धव ने मैं अभी जाता हूँ इंदिरावन वहाँ जाके देखता हूँ कैसा कठिन है अनुराग का बंधन है कौन सी वो गोपी ये बात सी वो गोपी जो ज्ञान बल को कम बतलाती है है कौन सी वो गोपी गोपी गोपी है कौन सी वो गोपी जो ज्ञान बल को कम बतलाती है और निरर्थक लोक लीला में सदा गुणगान गाती है क्या वो ही मेरा ज्ञान जनदी जॾहिं दर्शन देगी जॾहिं दर्शन देगी जॻिया करने तुझको काया मिले जाना मत ठुकरा दे दर्शन दे दर्शन देर मिल जाना मिले जाना मत ठुकरा दे दो नहीं कि मैं अभी जाता हूँ वृंदावन वहाँ जाके देखता हूँ कैसा कठिन अनुराग का बंधन है वो कौन सी गोपी जो ज्ञान बल को कम बताती है निरर्थक लोक लीला का था गुणगान गाती है कि वही मेरा श्याम है कर मथुरा से कुछ दूर वृंदावन निकट आया वहीं से प्रेम नगरी ने अनूठा रंग दिखलाया उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उधो को समझाने तो तुम्हारा ज्ञान का पर्दा सिर देंगे हम प्रेम दीवाने ओ सब झुक झुक के कह रहे थे इधर आवो इधर आवो पपिया कह रहा था पीका है कोई बतलाओ नदी यमुना की धाराएं शब्द हरि हरि का सुनाती थी ब्रह्मर गुजार से भी मधुबन से मधुर आवाज आती क्या बात है कोई मेरा श्याम है यही पढ़कर कहा उद्धव यही पढ़कर कहा उद्धव ने कि मैं मथुरा से आया हूँ सुनाता हूँ संदेशा साथ में जो शाम का लाया हूँ अगर आत्मा सत्ता ही अलख निर्गुण कहती है तो क्यों मोह वश कर यही वृथा गुण गान गाती है क्या गाती है मेरा श्याम है मेरा श्याम शंकर का श्री के ने संदेशा तो खूब लाए हो हाँ, मगर याद रखो योगी कि तुम पहचान में आया हो कहा श्री के राधिके ने संदेशा तो खूब लाए हो मगर याद रखो योगी के तुम प्रेम नगरी में आए हो संभालो योग की पूंजी संभालो संभालो संभालो संभालो संभालो योग की पूंजी कहीं हाथों से निकल न जाए और हमारी विरह की वेदना में जल के खाखन हो जाए हाँ। संभालो योग की पूंजी है जोग के जोग के संभालो योग की पूंजी कहीं हाथों से न निकल जाए क्योंकि हमारी बिरह अग्नि में कहीं जल के न खाक हो जाए अगर निर्गुण हम तुम तो है अगर निर्गुण हम तुम है तो कौन कहता है खबर किस से किसी की अलग हम तुम तो है तो लगती है नजर किस से किसी की क्या बात है असगर कहा श्री के ने संदेशा तो खूब लाए हो नगर याद रखो योगी योगी अरे जब तुम प्रेम नगरी में आए हो हो संभालो संभालो संभालो ए संभालो सवाल पूंजी कहीं हाथों से न निकल जाए तुम्हारी ज्ञान की पोथी हमारी बिरहग्नि में जल के खाख न हो जाए अलग हम तुम हो तो लगती है नजर से किसी की और निर्गुण हम तुम है तो कौन खबर करता किस से किसी की क्यों कभी खुद तुम नहीं समझे किसी को योग कहते हैं सुनो इस तौर से योगी के द्वैत में अद्वैत रहते हैं अरे भाई भाई वही मेरा श्याम है वही मेरा श्याम है